3C Vocabulary स्कूल विद्यालय पाठशाला किताब पुस्तक नया पुराना बच्चा मकान रसोई गुसलखाना के सिवाय के लिए खिड़की रोशनी हवा दूसरा खुश पलंग अलमारी पास थोड़ा दूर हर ज्यादा परेशानी बधाई